तब मुनि सरघुपति गुण गाथा कहे कछुक खगना खगनाथा ब्रह्म ज्ञान रत मुनि ज्ञानी मोहि परम अधिकारी जानी लगे करण ब्रह्म उपदेशा अजद्वैतय गुणहृदये सा अकलयनेह गम्य अनुभवगम्यखण्डयनूपा तब हे पक्षीराज मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है अद्वैत है निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता वह इच्छा रहित नाम रहित रूप रहित अनुभव से जानने योग्य अखंड और उपमा रहित है मन गोतीतय मलय विनाशी निर्विकार निरवधि सो मैं ताहि तोहि नहि भेदा इव गावहि भेदा विविध भाति मोहि मुनि समुझावा निर्गुण मत मम हृदयनयावा पुनि मैं कह नाय पद शेषां सगुण ब्रह्म सगुण उपासन कहु मुनीसा वह मन और इंद्रियों से परे निर्मल विनाश रहित निर्विकार सीमा रहित और सुख की राशि है वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है तत्वमसी जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा हे मुनीश्वर मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए राम भगत जल मम मन मीना किमि गाय मुनीस प्रवीणा सोई उपदेश कहु करि निज नय नन देखौ रघुराया तब सुनि अवधेसा निर्गुण उपदेशा मुनि पुनि कहे हरि कथायनो अखंड सगुण मत यगुण निरूपा तब मैं निर्गुण मत कर दूरी सगुण निरूप करी हठि भूरी उत्तर पद प्रतिव तर मैं की मुनि तन भय क्रोध के चीनाम सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए उपज क्रोध ज्ञान के ही अति संघर्षन जो कर ये अनल प्रगट चंदन ते हो तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काट कर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए हे प्रभो सुनिए बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी बारंबार सकोप मुनि कर निरूपण ज्ञान मैं अपने मन बैठ तब करूं विविध अनुमान क्रोध के द्वैत बिनु द्वैत बुद्धि बिनु द्वैत के बिनु यज्ञान माया बस पर छिन्न जड़ जीव के ईस समान मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसे हो और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है माया के वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है